उम्मीद है कि हमारा रब इस बाग के बदले में हमें इससे बेहतर अता फरमाए बेशक हम अपने रब की तरफ रुजू करते हैं